और ये बात औरत से सज़ा को हटा देगी कि वो चार मरतबा अल्लाह ताला की कसम के साथ चार शहादतें दे कि यकीनन वो मर्द बिलाशुबा झूठों में से है